ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ अष्टादश अध्याय पंचम श्लोक चतुर्थ श्लोक पंचम श्लोक के ऊपर विचार चल रहा है चतुर्थ श्लोक के ऊपर जिसमें अष्टादश अध्याय के आरंभ इसलिए किया जाना होता है यहां कि समस्त गीता के अभी तक पूर्व में कहा हुआ जो जो विषय थे ज्ञान कर्म संन्यास तीन प्रकार के विषय है कर्म है और मान निष्काम कर्म की चर्चा है शास्त्रों में और ज्ञान ज्ञान की चर्चा और संन्यास त्याग की चर्चा तो उनमें उनके तीनों का यह निर्भर होना इस अध्याय में पूरी गीता में जो कुछ कहा था संपूर्ण वेद का भी तात्पर्य बदलाना है इसमें वेद का तात्पर्य बताना है किंतु अर्जुन के मन में वो वेदों के दो पातों को लेकर के जिज्ञासा बनी हुई है त्यागे नहीं के अमृत मानस हो संन्यास योगा देते सत्वा ये दो बातें संन्यास के माध्यम से शुद्ध अंतकरण वाले ऐसा कहा हुआ है मुंडक में कहा हुआ है त्याग नहीं के अमृत तो मानस इत्यादि कहा हुआ है तो ये दो को लेकर पहले प्रश्न अर्जुन पहले प्रश्न इन्हीं को करते हैं तो त्याग शब्द का अर्थ क्या होता है संन्यास शब्द का अर्थ क्या होता है यह अर्जुन का ये प्रश्न है होना है तो <clears throat> संन्यासम कर्मणा संन्यास से महाबाहो तत्व में वेद को तो कहा मैं संन्यास के बारे में जानना चाहता हूं स्वरूप क्या है संन्यास का अर्थ क्या है त्याग से स्थिति कैसा पृथक कैसी में सुधा त्याग का अलग अलग करके दोनों का अर्थ बताइए आप मैं जानना चाहता हूं कहा तो भगवान ने मत मतांतर पहले रख दिया अपना निश्चय बाद में देंगे मत मतांतर है कर्म में आसम संन्यासम हो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं काम में कर्म का त्याग देना इसको संन्यास कहते हैं त्याग पूरा कर्म त्याग देना काम्य कर्म और सर्वकर्म फल त्यागम ऐसा वो बोलते हैं कुछ लोग ऐसा बोलते हैं सभी कर्मों का फल त्याग देना चाहिए क्या करें अन्य लोग ऐसा बोलते हैं कहा तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं कर्म मात्र का त्याग देना चाहे काम में कर्म हो नित्य कर्म कोई भी हो त्याज्य हम दस मित्य के कर्म प्राहो मनीष फिर चौथे लोग आगे बोलते हैं यज्ञ तब कर्म अत्यादि पावर कर्तव्य भी इत्यादि तो ये तो करना ही चाहिए यदि पर है यज्ञदान तब तो नहीं त्यागना चाहिए कर्तव्य नहीं कर्तव्य है ऐसा मानते हैं और निश्चय तो बाद में भगवान बताएंगे पंचम श्लोक में अभी तो चार श्लोक विषय में तो एक तो प्रश्न के रूप में है तीन श्लोक की चर्चा चल रही है तो यहां पर प्रश्न आया जब तो गीता संपूर्ण शास्त्र का उपसंहार का विषय है उसमें पहले जो कर्म की चर्चा हो चुकी थी तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय आदि में उसका पुनः यहां पर विचार किया जा रहा है कर्म का कर्म करना फल त्यागना अथवा पूरे कर्म त्यागना विचार है उस पर ज्ञान के विषय में चर्चा होनी चाहिए एक ही साथ आए थे दोनों लोकेश दिविदाष्टा पुरा पूर्ता मैं तृतीय अध्याय साथ में बोला गया था तो दोनों की चर्चा हो भी गई दोनों के उनमें से एक के विशेष चर्चा यहां होती हो तो ज्ञान के बारे में कहना चाहिए पूर्वोक्ष सिद्धांत पद था ज्ञान के बारे में कहना चाहिए सिद्धांत कहना ज्ञान के लिए नहीं कर्म के लिए है फल त्याग की स्तुति के लिए है यहाँ जो काम्य कर्म को त्याग करके जब तक अज्ञान अवस्था में है मुमुक्षु अवस्था में है तो उस मुमुक्षु अवस्था में नित्य कर्म का फल त्याग करके नित्य कर्म करता हो तो उसकी स्तुति के लिए है ये ये प्रशंसा पर वाक्य है ये कहा था इसी सिलसिला में यज्ञतावता कर, करो न चिंतित दिशा परे था उसी का अर्थ कर रहे थे उसमें भाष्य में चल रही थी पंक्ति पांच सौ इक्यावन पृष्ठ में भाष्य तो हो गया था टीका थी उसकी यथोक्त ज्ञान टीका थी नहीं फल देव ज्ञानम ज्ञानम बिना मुक्ति रूपता सिद्धांत में केवल कर्म के फल त्याग मात्र से पूर्व पक्ष ने कहा था कर्म का फल त्याग कर दिया तो हो गए ज्ञान की क्या आवश्यकता है अरे काम्य कर्म नहीं करता आगे शरीर होने की कोई संभावना नहीं है काम्य कर्म करता तो शरीर होता और नित्य कर्म कर रहा है इसलिए प्रतिभा होने की संभावना नहीं है नित्य कर्म के द्वारा प्रतिभा पाप के वो है ही नहीं और पूर्वकर्म भोग करके समाप्त हो गया है प्रारूप कर्म समाप्त हो गया तो कारण है ही नहीं कोई आगे बंधन संसार के लिए मोक्ष हो जाएगा इस जन्म में कर्म का फल त्याग कर दिया पहले वाला किया हुआ कर्म का तो फल यहां भोग लिया है और यहां पर काम्य कर्म करने रहा आगे के लिए सामग्री है ना उसके शरीर पाने के लिए नित्य कर्म कर रहा है वहां पाप पाप के फलदार भी नहीं होना है तो अनायास मुक्त हो मुक्त हो जाए कर्म फल के त्याग मात्र से कौन सा कर्म काम्य कर्म का फल ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा तो सिद्धांत कहा जाए केवल कर्म का त्याग मात्र से फल त्याग मात्र से मुक्ति नहीं होती मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए सिद्धांत ही बोल रहे हैं नहीं फल त्यागादेव ज्ञानम बिना मुक्ति युक्ता केवल कर्म के फल त्याग मात्र से ज्ञान के बिना मुक्ति युक्ति संगत नहीं है ज्ञान चाहिए मुक्ति के लिए क्यों तो कहा मुक्ति मुक्ति के साधन तो ज्ञान ही का अधीनत्व ज्ञान के मात्र के अधीन है मुक्ति ज्ञान के साधन मोक्ष के साधन ज्ञान है मुक्ति के साधन तो ज्ञान ही होता है कर्मफल के त्याग से नहीं मुक्ति और ज्ञान ही अधीनत्व साधक श्रुति स्मृति वृद्धात मुक्ति जो है ना ज्ञान मात्र के अधीन से होना है मुक्ति वहां उसके साधिका है दो श्रुति स्मृति दो है श्रुति में भी कहा ज्ञान से मोक्ष है और स्मृतियों में ज्ञान से मोक्ष बताया उसे सिद्ध करने वाले इसका विरोध होगा केवल फल के त्याग मात्र से मुक्ति मानने लग जाएंगे तो श्रुति स्मृति का विरोध होगा कौन सी श्रुति मुक्ति जो ज्ञान एक अधीन एकमात्र ज्ञान के अधीन मुक्ति है कहने वाली श्रुति और स्मृति का विरोध होगा तो फल त्याग मात्र से मुक्ति नहीं होनी है वो कहते हैं इसी से फल त्याग मात्र से मुक्ति हो जाएगी मान एक ही आश्रम में रहे गृहस्थ आश्रम में रहे काम में कर्म नहीं करना भविष्य के लिए शरीर के लिए नहीं हुआ कुछ पाप पुण्य नहीं करेगा आगे लिए ठीक है नित्य कर्म कर रहा है ये आगे प्रतिवाद पाप होने की संभावना है ही नहीं अनायास मुक्ति है और प्रारंभ या भोग के समाप्त कर दिया अनायास मुक्ति है किंतु सिद्धांति वहां विचार करके बोलते हैं अरे बाबा जन्म जन्मांतर के किए हुआ संचित कर्म पुण्य पाप कितने हैं पता है प्रारंभ तो सिर्फ एक नाश हुआ उनमें से जो पड़े हैं संचित खाते में पड़े हैं जो निष्क्रिय होकर के बैठे हुए हैं आगे सक्रिय होना जीरो नहीं क्या सारा भोगा हुआ क्या असंभव है हाँ, ज्ञान के द्वारा सब भस्म हो जाए ज्ञान अग्नि वाणी भस्म रात पूरे कथा ऐसा है ज्ञान रूपी अग्नि से तो सारे नष्ट हो जाते हैं बाकी कर्म फल के में से होना होना नहीं है मुक्ति वाला संभव नहीं है ये कहा विरोधात और ये जो फल त्याग के बारे में त्यागा शांति निरंतरम आदि ने जो कहा था त्याग के बाद भी शांति मिलती है मुक्ति मिल जाती है मैंने द्वादश अध्याय जलाकर करके बोला था पूर्वाजी ने कहते हैं इसी के बारे में बोलते हैं अरे बाबा उसके आगे वाला श्लोक देखो ना ज्ञान के साधन बता रहे हैं वही द्वादश अध्याय में जाते आवाज शांति अनंतरम है ना उसके आगे अद्वष्टा सर्वभूताराम मैत्री करुण एवं निर्मोहकार सुख दुख समक समय इत्यादि मैंने ज्ञान के साधन बता रहे हैं आगे क्या बता रहे हैं हाँ वो व्यर्थ हो जाता है यदि त्याग से मुक्ति होना हो तो प्रसंग पूरा हो गया द्वादश अध्याय में फिर अगले श्लोक में अद्वेष्ट आदि शब्द क्यों बोलते भगवान इतने मात्र से नहीं है संसार का त्याग ठीक है कर्म फल का त्याग करना अच्छी बात है उसके बाद ज्ञान के लिए आर्जन ज्ञान आर्जन करना चाहिए तभी मुक्ति होगी ये कह रहे सिद्धांत बोल रहे हैं अद्वेष्टा इत्यादि अनंतरम में जहां पर त्यागा शांति अनंतरम बोला हुआ है वो तो कब माने ये नहीं कर सकते तो ये करो ये नहीं कर सको ये अंतिम में कहा कि कर्म फल का त्याग करने से भी शांति मिल जाती है मोक्ष हो माने मिल जाती शांति हो जाती है कहा हुआ है मन मुख्य साधन तो मन मई एव मन मई बुद्धि निवेश निविशित मई एव अतोर्दम न संशय इत्यादि से पहले पहले साधन बताते गए मेरे में मन रखना चाहिए मेरे में बुद्धि रखना चाहिए ऐसा कर पाओगे तो मेरे में रहोगे आगे ये मुख्य था वहां से उतर करके बोले यदि नहीं कर एक अभ्यास करो चित्त समाधान करे एकाग्र करो अभ्यास करो अभ्यास भी नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो नित्य कर्म करो काम कर्म मत करो इत्यादि बोलते बोलते आए वो भी नहीं कर सकते हो तो फिर फल त्यागो मैंने इसकी प्रशंसा के लिए है फल त्याग की स्तुति के लिए मुख्य नहीं है अर्थवाद है कि कहा गया कह रहे हैं अद्वेष्टा इत्यादि राधा अनंतरम ज्ञान साधन विधान अनर्थ का यदि फल त्याग से मुक्ति होने तो अतिष्ठा आदि अगले श्लोक में नहीं बोलना चाहिए द्वादश अध्याय में त्यागात शांति निरंतर के बाद विधान करना व्यर्थ हो जाए ज्ञान के साधन का विधान व्यर्थ है ज्ञान के साधन है अतिष्ठ आदि अनर्थ्य त्याग अतः त्याग स्तुति अत्र कहेगा ये जो त्यागात शांति निरंतर में कर्मफल के त्याग की प्रशंसा मात्र है यह यही यहां ग्रहण करना चाहिए जो त्यागात शांति निरंतर रहा था वहां पर यही मानना चाहिए सिद्धांत ने कहा दृष्टान्तगतम अर्थम दाष्टान्त के है पूर्वादि एक लाया था नहीं देवता सत्यम तक तो कर्मान से सदा यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी दुभित पूर्व पक्ष ने लाया था उठा अरे बाबा देहाभिमान जब तक है मैं मनुष्य हूं इत्यादि भावना है तब तक सारे कर्मों का त्यागना असंभव है हम्म। कुछ न कुछ तो करता ही रहेगा नहीं देव देवता इत्यादि कहा था सारे ख्याल कर्म त्यागना संभव नहीं नहीं देवता का कर्म तत्वों से इत्यादि तो वह वह दृष्टांत है वही दृष्टांत कहना चाहते हैं दृष्टांत का तो मतलब दाष्टांत दाष्टांत को तो घटाना चाहते हैं वहां भी सारे कर्म त्याग नहीं हो सकता फल त्याग हो सकता है इसके लिए कहा गया वो कर्म तो त्याग सकता है व्यक्ति फल त्याग ये कहना है तथा इत्यादि कहा तथा इदम अपनी न ही देहवृता सक्यम त्यक्तुम कर्मांड से सत इत्यादि वाक्य भी जिस प्रकार अर्थवाद वाक्य था त्यागा शांति निरंतरम वो दृष्टांत है इसी प्रकार ये वाक्य भी कौन नहीं व्यावृता सत्यम तुम कर्मांड से सत्य इत्यादि वाक्य भी कर्मफल त्याग स्तुति अर्थम इत वचन कर्मफल के त्याग की स्तुति के लिए प्रशंसा के लिए वचन है नहीं व्यावृता सत्यम आगे कर्म करो कम से कम फल त्यागो इसकी प्रशंसा के लिए टीका हम कहते हैं प्रागुक्त पक्ष अपवाद विवक्षया हेतु रोकते पहले जो कहा था ना त्यागराज छात्र निरंतरम के वो दृष्टांत दिया गया था पूर्व बोलते सबको करना चाहिए कर्म तो नहीं दे व्रता बोला हुआ है तो कर्म करना चाहिए उसके अपवाद के रूप में कहा गया प्रागुप्त तो अपवाद पहले जो कहा था माने कोई बोल रहे सारे कर्म त्यागना चाहिए कोई कहते नहीं यज्ञदान तब करना चाहिए ज्ञानी को यज्ञदान तब की भी आवश्यकता नहीं मुख्य ज्ञान हुआ हो तो वो जो जिज्ञासु अवस्था में जरूरत है ये बोल रहा है उसको फल त्याग करके नित्य कर्वादी करना चाहिए तब करना चाहिए ये कहने के लिए है प्रागुक्त पक्ष अपवाद या हेतु रूप के पहले के जो पक्ष था पूर्वादि ने कहा था नहीं दिया प्रताशक्तम इत्यादि कहा था ना उसी के द्वारा हेतु दिया गया हेतु क्या दिया अर्थवाद वाक्य मुख्यार्थत्व में क्यों सर मुख्य क्यों नहीं माना जाए इसको फल त्याग के लिए प्रशंसा क्यों माना जाए कोई कर्म त्यागा नहीं जा सकता आजीवन कर्म करने से ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए देहराज तो अभी है तो इसी के क्यों न शायद क्यों नहीं माना जाए इसको अर्थवाद में क्यों ले जाना इस वाक्य को तो तत् बाधे हेतु आवाद उसका बाध करने में हेतु नहीं मिलता आत्मज्ञान में कर्म कराने में वो हेतु नहीं मिलता न कहा अरे बाबा आत्मवेदता तो ऐसा होता है देहवृत होता ही नहीं वो देहाधारी मानता ही नहीं अपने को न सर्वकर्माण नाशाय क्या सभी कर्मों को मन से त्यागा हुआ उसने कहा से मन से देह में कहा कर्म आ सकेगा तो उसका सर्वकर्माण मनसा संन्यास से सुखम बसी संजस्य आस्ते सुखम बसी न बदवारे पूरी दही न कुर्बन कारण पंचवत्या बोलते आए सर्वकर्माणी मनसा संन्यास नैव कुर्बन न कार्य न करता हुआ न कराता हुआ इसी शरीर में जीवनों मुक्त रहता है ऐसा आया है ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति को कोई भी कितने भी वाणी आ जाए कोई भी आ जाए किसी भगवान की वाणी में आए कर्म नहीं किया कराया जा सकता वो मन से त्यागा हुआ है उसने कर्म सारा हाँ कर्म करवाना संभव नहीं है कोई भी कर्म करवाना संभव नहीं कहा जैसे पक्ष से बाध केंद्रित दर्शन इस पक्ष का जो अपराध होगा कोई भी किसी पक्ष को द्वारा दिखाई नहीं जा सकता ये मुख्य पक्ष आत्मवत्ता के है सर्वकर्माण मनसा सन्यास शास्त्र सुखम बसे नवदारे पूरे ही नव गुरु नकार है इसको कोई भी पक्ष आकर के निश्चय खंडन नहीं कर सकता ये कहा ठीक है कहते हैं न चाहिए तो हम हेतु उक्ति ये हेतु जो बताया अभी सर्वग्रहण मनसा ज्ञानी के लिए हेतु बताया सिद्धांत ने तथ अपवादी का अन्यथा सिद्ध रूप तत्वाद इसको अपवाद करने के कोई घट नहीं सकता उसे अपवाद बता दिया ज्ञान के बिना तो मोक्ष है ही नहीं करके बता दिया केवल फल त्याग के मात्र से मोक्ष नहीं होता ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती ये कहा हुआ है मुख्य संन्यास अपवाद असंभव है मुख्य संन्यास का अपवाद नहीं कर सकते कौन भाग्य यज्ञदान यज्ञदान तब कर्म नत्याज में पड़े ये तो करना ही चाहिए सबको करना चाहिए कहने वाला पक्ष मीमांसक होगा तो मुख्य संन्यास का अपवाद नहीं होता असंभव है उसका अपवाद नहीं कर सकते कर्म मुमुक्षों के लिए कहा ना किसके लिए यज्ञदान तब कर्म तब कर्म न त्याज्य क्या पड़े इसलिए मुमुक्ष के लिए उस काल में काम में गर्भा तो छोड़ देता है स्वर्ग आदि की इच्छा नहीं उसको विषयों से बहराग्य है किंतु अंधकर्म की शुद्धि के लिए अभी नित्य कर्म आवश्यक है उसको फल त्याग करके नित्य कर्म भी दो प्रकार के होते हैं माने सकाम भी होता है निष्काम भी होता है सकाम वाला नहीं करेगा निष्काम वाला करेगा यही है ये कहना है यहां मुख्य संन्यास अपवाद असंभव ये वाक्य जितने भी आए हैं यहाँ अभी विचार हो रहे जहाँ विचार हो रहा है जिनका यहाँ मुख्य संन्यास का अपवाद असंभव है मुख्य संन्यास का अपवाद नहीं कर सकते कोई संन्यास त्याग विकल्प से कथम साफ करता फिर संन्यास और त्याग को विषय कर रहा विकल्प दो विकल्प है कोई बोल रहे संन्यास करना है सारा कोई बोलते विकल्प है यज्ञदान तब को करना है हाँ, कोई बोल रहे कि त्याज्यम दोषवती त्याग कर सारे कर्म त्यागना बोल रहे हैं कोई बोल रहे नहीं यज्ञदान तब तो करना चाहिए ये विकल्प किसमें लगेगा फिर ये कौन त्यागेगा कौन रखेगा इनके ग्राहक कौन होंगे ये प्रश्न है मुख्य संन्यास अपवाद असंभव है मुख्य संन्यास का अपवाद तो कर नहीं सकते ये मानी मुख्य जो संन्यास नवद्वारे पूरे देही नव में पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा मुख्य सन्यासी वहां ये नित्यादि कर्म को कोई लगा नहीं सकता मुख्य संन्यास अपवाद असंभव है संन्यास त्याग विरुद्ध संन्यास और त्याग का जो विकल्प किया हुआ है यहाँ काम्या नाम कर्माम न्यासम संन्यासम कवि विधवादी सर्वकर्म वाला त्याग प्राण त्याग विचक्षण यदि विकल्प जो है कथम साप का था फिर साप का कैसे होगा वो जब नहीं करेगा कर्म संन्यास है वहां फिर कहां लगेंगे वाक्य कहां चरितार्थ होंगे काम्य कर्म को त्यागना और नित्य निमित्त कर्म करना फल त्याग करके कौन करेगा जब मुख्य सन्यासी नहीं कर सकता है जब ये प्रश्न है कहां साफ कास्ता होगी इनकी ये जो काम कर्म को त्यागना त्याग कौन त्यागेगा और नित्य निमित्त कर्म कौन करेगा फल त्याग पूर्वक तो एक वो नहीं कर रहा है मुख्य सन्यासी में अखबार है वो तो नवद्वारे पूरे दे ही नवकुरम नकार अस्त में बैठा हुआ है तो कौन करेगा प्रश्न आया तो उत्तर तस्मात कर्म अधिकृतान कर्म में जो अधिकारी है ध्यान विमान है मुमुक्षु अवस्था में बैठे हैं जो मुमुक्षु तो कर्म क्यों करेगा नित्य कर्म फल त्याग करके क्यों करेगा वो तो सकाम ही करेगा यदि करेगा तो क्या करेगा सकाम निष्काम करेगा नहीं मुमुक्षु है अभी अज्ञानी है अज्ञानी का विस्तार होता है मुमुक्ष तो महाअज्ञानी है पट और ये थोड़ा ऊपर के अज्ञानी है थोड़ा सुलझा हुआ है अभी ज्ञान तो हुआ नहीं तस्मात कर्म ही अधिकृत जो कर्म में अधिकारी है सन्यासी नहीं है सदग्रस्त आदि जो भी हों बानप्रस्थ आदि हों कृतान प्रति एवं उनके प्रति ही ऐसा संन्यास त्याग बोलेगा संन्यास त्याग बोलेगा उन्हीं का है काम्य कर्म को त्याग देते हैं लोग और नित्य निमित्त कर्म फल त्याग पूर्वक करते हैं अंतकर्म शुद्धि के लिए यही है ठीक है कहते हैं आगे ज्ञान निष्ठान प्रयुक्त विकल्प अनुपत्तो ज्ञान निष्ठा वाले जो व्यक्ति हैं ज्ञान में निष्ठा रख के बैठे हैं जो कर्म के अधिकारी नहीं है ऐसी स्थिति वाले हैं उनमें तो विकल्प अनुपत्तो पहले कहा हुआ विकल्प नहीं है काम्या नाम कर्मान्यासम संन्यासम फलविधु संन्यास काम्य कर्म का त्याग और सर्वकर्म फल त्याग है ये नित्य कर्म का फल त्याग ये दोनों विकल्प होना संभव नहीं अनुपत्तो सिद्धन होने पर पुत्र तेजाम अधिकार फिर वो जो सन्यासी हैं उनका अधिकार कहां होगा क्या करेंगे वो जब कर्म नहीं करना उन्होंने काम कर्म छोड़ दिया हुआ है और नित्य निमित्त कर्म छोड़ दिया है उनकी आवश्यकता नहीं है अंधकर्म शुद्ध हो चुका है और आवश्यकता नहीं है तो फिर उनका अधिकार कहां होगा क्या करेंगे वो ये प्रश्न उठा तो कहा ये पुनः ये तो परमार्थ दर्शिना अब व्यवहार व्यावहारिक दृष्टि में जो नहीं परमार्थ दृष्टि में पहुंचे हुए हैं एकमेव एकमेव अद्वितीय में पहुंचे हैं आत्मा वेदम सर्वम इत्यादि में पहुंचे हैं ब्रह्म वेदम सर्वम आत्मा वेदम सर्वम ये दृष्टि में जुड़ो ये तो परमार्थ दर्शन जो व्यवहार की दृष्टा नहीं है परमार्थ दृष्टा है सांख्य मान ज्ञानी है जो तेसाम उनका तो निष्ठा कहा ज्ञान निष्ठा आएगा सर्वकर्म संन्यास लक्षण में अधिकार उनका तो क्या ज्ञान निष्ठा में अधिकार है का निष्ठा जो कर्म संन्यास लक्षण है जिससे ज्ञान निष्ठा में सारे कर्मों का नित्य नैमित काम में सब कर्म त्याग किया जाता है उसमें अधिकार है उनका तो ज्ञानी का तो। यदि ज्ञान स्थिति अवस्था में है पहुंचा हुआ है उनका अधिकार वही होगा कर्म में नहीं है नित्य नैवित्यादि कर्म भी नहीं है क्यों अंधकर्म शुद्धि के लिए होना है नित्य नैवित्या कर्म उनके अंधकर्म शुद्ध हो चुका है फलावस्था में है वो आवश्यकता नहीं है नान्यत्र अन्य कर्मों में अधिकार अब नहीं उनका नान्यत्र न तो कर्म नहीं ये अर्थ होगा कर्म अधिकार उनका नहीं है न ते विकल्प रहा या विकल्प के युग वो नहीं है माने कर्म उनके लिए भी है या नहीं है विचार कर रहे हैं वहां तो ये कर्म का विचार हो रहा है काम्य मनुष्य और निष्काम मनुष्य को लेकर के जो काम्य वाला काम्य कर्म करेगा निष्काम वाला काम्य कर्म छोड़कर नित्य नैमित्य कर्म करता रहता है क्यों नित्य नैमित्य गई रेवा कुर्बान दुर्तक्षय ज्ञानम च विबली कुर्बन अभ्यास न अभ्यास है पाचे अभ्यास पक्व विज्ञान विज्ञानात कैवल्यम नर लभते नर ऐसा आया है नित्य नैमित्य कर्म कर रहा है फलाशक्ति से रहित होकर के ईश्वरार्पण बुद्धि से करता हो नित्य नैमित्य कह रहे हुआ कुर्बान दुर्तक्ष पाप नाश करता हुआ नित्य कर्म पाप को हटाने के लिए ज्ञानम च विबली पूर्वम ज्ञान को स्पष्ट करा बल रहित करता हुआ स्वच्छ बनाता हुआ अभ्यास ही में अभ्यास ही नहीं पाच पाते बार बार उसका अभ्यास को उसको पकाए किसको ज्ञान को अप्रोक्ष करे यही होता पका अप्रोक्ष करे उस ज्ञान को उसके बाद अभ्यास पक्व आज कैवल्यम न अभ्यास के द्वारा पका हुआ जो विज्ञान होगा साक्षात्कार हो गया जिस प्रकार के माध्यम से कैवल्यम लभते कई कैवल्यम लभते जो मनुष्य है कैवल्य को प्राप्त करता मुक्ति प्राप्त करता है ऐसा आया हुआ है इसलिए उनका तो यही है ये तो परमार्थदर्शी ना जो परमार्थ को देखने का जिनका स्वभाव हो गया आत्मभाव में रह रहे हैं जो लोग सांख्या जो सांख्य बोलते हैं मैं ज्ञानी है जो तेसाम ज्ञान निष्ठायाम एवं सर्वकर्म संन्यास लक्षण आया ज्ञान निष्ठा मैंने सारे कर्म का संन्यास करना त्यागना नित्य नैमित काम में सब त्यागना इसी में अधिकार है उनका तो नान्यत्र मैंने ना अन्य कर्म में नहीं है नित्य नैपी इत्यादि कर्म में उनका अधिकार नहीं है मानी नित्य कर्म में अधिकार उनका है जो मुमुक्षु अवस्था में है फलाशक्ति रहित होकर करके नित्य कर्म और भी करेंगे मुमुक्षु भी करते हैं किंतु तो फलाशक्ति से करते वो किंतु फलाशक्ति से रहित होकर के मुमुक्षु नित्य कर्म करते हैं काम में कर्म तो करते ही नहीं और बुभुक्ष जो होगा काम में भी करता है नित्य भी करता है जब तो काम में तो करेगा तत्त तो कामना के विशेष कामना के लिए नित्य कर्म भी करता है तो फलाशक्ति से ये मिले वो मिले इसके लिए होता है किंतु मोक्ष जो है फल की आसक्ति छोड़ करके नित्य कर्म करता है यही है नौते विकला जो ज्ञानी है जो परमार्थ दृष्टा है वो यहां विकल्प के योग्य नहीं हो कर्म करना न करना उनके लिए नहीं जो मुमुक्षु अवस्था में पड़े हैं उनके लिए विचार हो रहा है यहां ठीक है कहते हैं सन्यासी नाम विकल्प अनर्थ होते हैं जो कर्म त्यागी है जितने ने भी त्यागी कर्म भी त्याग दिया उसके साधन शिक्षा सूत्रादि जैसे त्याग दिया है तो सन्यासी नाम विकल्प अनर्थ विकल्प के योग्य नहीं होते हैं वो कौन सन्यासी कौन कर्म करना नहीं करना करना या त्यागना इत्यादि विकल्प योग न होने से ज्ञान निष्ठा में अधिकार है भूय सुप्रदेश से सुसाधित ज्ञान निष्ठा में उनका अधिकार है एक जगह ने थान थान पर सिद्ध किया है भूयस्सु मैंने बहुत स्थानों में साधित साधित किया है न साधनीय तो अपेक्षा उनके लिए अब सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं है ज्ञान निष्ठा के लिए सिद्ध करना अपेक्षा नहीं है क्यों कई जगह हो चुका है ज्ञान निष्ठा के विषय कहीं बता तथा इत्यादि कहा था तथा उपपादितम अस्माभि ज्ञान निष्ठा के विषय में हमने सिद्ध किया है पहले कहा वेदा विनाशनम यहाँ इत्यादि लेकर वेदा विनाशनम नित्यम जैनम अजबभ्यम कथम स पुरुषार्थ पार्था कम घात इत्यादि वाक्यों के द्वारा द्वितीय अध्याय में और तृतीय के आदि में शुरू में बताया है ये कहा इतिहास अश्विन प्रदेश कहा ये जो प्रदेश है स्थान विशेष है वहां किसी को मारना भी संभव नहीं मरवाना भी संभव नहीं कहा है दूसरे को अपने को मरवा भी नहीं सकता स्वयं मार भी नहीं सकता तो द्वैत भाव नहीं होता है आत्मा में अविनाशी भाव आत्मा को समझकर बैठा हुआ आत्मभाव में शरीर भाव में होने पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारना या मरना होता था अभी शरीर भाव में नहीं हो आत्माभाव में है उसके द्वारा किसी को मार माने कुछ करना भी नहीं होता करवाना भी नहीं होता दूसरे के द्वारा अपने में करवाना भी नहीं होगा आत्मा सर्वम फल फलितम ब्रह्म बैठे हुए इत्यादि कहा तृतीय के आदि में बताया बोला इत्यादि करके भाष्य में कह दिया आगे कहते हैं अब ये जो विकल्प हुआ है निश्चय क्या होगा इसका कोई बोल रहे हैं सारे कर्म त्याग करना चाहिए कोई कह रहे हैं नहीं यज्ञदान तब तो करना चाहिए इत्यादि बोल रहे हैं तो विकल्प क्या होगा सारा त्यागना है जिज्ञासु को या कुछ करना है अब तो जिज्ञासु अवस्था में जो बैठे हैं तो नित्य निवृत्ति कर्म करना है यज्ञदान तब करना है अथवा सारे त्यागना है त्याज्यम तो दोषवधित्य के कर्म प्रावुर मनुष्य आया हुआ है हाँ। एक द्वेदान तपस इतिचा पड़े कर्तव्य न त्याज्य उच्चा पड़े ऐसा विकल्प है तो ये से चरितार्थ करेंगे उसमें निश्चय क्या होगा क्या करना क्या नहीं करना तब कहते हैं यदि मोक्ष अवस्था में है तो ये तीन तो करना चाहिए मेरा निश्चय है भगवान बोलना चाहते आगे ठीक है ठीक है मैं कहना है कर्माधिकार कर्माधिकृतान प्रति एवं उक्त विकल्प प्रवृत्त होगी कर्म के अधिकारी माने बुभुक्षु भी है मुमुक्षु भी है दोनों है कर्म के अधिकारी काम कर्म के अधिकारी बुभुक्षु है नित्य नित्य कर्म के अधिकारी मुमुक्षु है फल त्याग कर कर्माधिकृतांत कर्म के जो अधिकारी लोग हैं ना उनके प्रति एवं उक्त विकल्प प्रवृत्त होगी उनमें ही ये विकल्प की प्राप्ति उन्हें कर्म के अधिकारी जो होंगे उन्हें जो ज्ञान निष्ठा में पहुंच चुके हैं उनके लिए यहां विकल्प होना सम, करना संभव नहीं है विकल्प जो पूर्व में कहा किसके लिए कर्म के अधिकारी को लिया है होने पर भी कुतो निर्धारित किस में है कर्म के अधिकारी दो प्रकार है एक तो मुमुक्षु है एक बुभुक्षु भी है कर्म के अधिकारी कैसे निर्णय होगा फिर इसका कर्माधिकारी में होने पर भी कर्म के अधिकारी भी भिन्न भिन्न है तो कैसे निर्णय होगा कौन कर्म कौन करे सारे कर्म त्याग रहा है यज्ञदान तब को करना है ये प्रश्न उठा तत्र उसको उत्तर में हैं तत्र तत्र एतेषु विकल्प भेद जितने भी विकल्प बताया गया काम्यानम कर्मान्यासम संन्यासम कबीर एक दूसरा सर्वकर्म फल त्यागम प्राह त्यागम विचक्षणा दूसरा विकल्प तीसरा विकल्प त्याज्यम दशपति त्य के कर्म प्राहु मनीषणा चौथा विकल्प यज्ञ तपस्या तपस कर्तव्य इत्यापर इत्यादि जो चार विकल्प हैं तो इन विकल्पों में अब श्लोक से उत्तर देते हैं भगवान

अतिशय न सत सत तम तम प्रत्यय है माने आप सत्पुरुष हो तुम माने भारत वंशियों के सत्पुरुष हो श्रेष्ठ पुरुष हो सत्तम अतिशय न सत सत शब्द से तमप लगा तो सत्तम बनता है हे सत्तम हे पुरुष व्याघ्र पुरुष वो व्याघ्र पुरुष व्याघ्र मयूर व्यंग व्यंग समास हुआ कर्मधारी समास है जो तो पुरुष है बाघ पुरुष में श्रेष्ठ सिंह जितने मनुष्य हैं सब में सिंह हो तो अर्जुन के लिए सूरवीर हो कहने के लिए त्यागे तत्र त्यागे उन त्यागों में पूर्व में जो त्याग की बातें आ गई इसमें मैं निश्चय सुनो मेरा निश्चय तुम सुनो ममो मन निश्चय तुम तुम सुनो मेरा निश्चय को सुनो त्रिविधा त्यागो ही त्रिविधा संप्रकृत त्याग तीन प्रकार का त्याग है सात्विक त्याग मानस त्याग राजस त्याग तीन प्रकार का त्याग होता है कर्म वही करेगा एक पर सात्विक त्याग होगा एक राजस होगा एक तामस होगा त्रिविद त्यागो ही मन अस्मात त्याग त्रिविद संप्रयुक्त त्याग तीन प्रकार का कहा गया है शास्त्रों में त्याग के विषय मेरे से सुनो तीन प्रकार का त्याग होता है निश्चय सुनो अवधार है निश्चय मैंने सुनो मैंने अवधारण करो मेरे वाक्य को ध्यान से सुनो त्याग तीन प्रकार का होता है कहना जा रहे हैं मेरे माने मन मम वचनात् मेरे वचनों से सुनो भगवान कह रहे हैं मेरे वचनों से तीन प्रकार के त्याग के विषय में सुनो तत्र त्याग है उस त्याग में त्याग के विषय में तत्र है ना उस त्याग में त्याग संन्यास विकल्प ही है त्याग और संन्यास के विकल्प में काम्यानंद कर्मान्यासम संन्यास प्रवृत्ति इत्यादि कहा हुआ है त्याग कर क्या है संन्यास क्या है यथादर्शित जिस प्रकार पूर्व में दिखाया गया त्याग और संन्यास दो हे भरत सप्तम हे संबोधन है भरता नाम साधु तम सप्तम साधु तम अतिश्रेष्ठ पुरुष हो भरत हो तो अर्जुन त्यागो ही ही माने यस्मात त्याग संन्यास वाच्यो ही त्याग संन्यास शब्द का वाच्य आता है कर्मा है सब संन्यासों को भी तो त्याग शब्द संन्यास शब्द वाच्य एक ही होता है दोनों को शब्द वाच्य सुनो मेरे से अर्थ क्या होता है यो अर्थ दोनों का जो अर्थ होगा त्याग शब्द का संन्यास शब्द का स एक है वही अप्रत्याय एक ही है दोनों का अर्थ तो कर्मों का भेद करके कहा हुआ है माने काम कर्म को त्याग को संन्यास त्यागी तो है वो भी संन्यास सबसे है तो त्याग और सर्वकर्म फल का त्याग उसको कहा त्याग दोनों त्यागी है एक ही अर्थ है दोनों को वास्तव में थोड़ा फर्क यह है कि काम कर्म का त्याग न संन्यास है और सभी कर्मों का त्यागना फल त्याग करना कर्म करना फल त्याग करना इसको कहा त्याग एक ही अर्थ है दोनों का वास्तव में अर्थ एक ही होता है त्यागी होता है कहा त्याग ही कहा त्याग जो है ना ही मैंने स्मार्ट त्याग हे पुरुष व्याग्र त्रिविधा संप्रकृत कहा तीन प्रकार के त्याग कहा गया है शास्त्रों में सम्यक प्रकृतता संप्रकृतता पुरुष व्याग्रह पुरुष पुरुषों में जो व्याग्र हो तुम श्रेष्ठ हो जैसे जंगल में बाघ होता है ना श्रेष्ठ होता है इस प्रकार पुरुषों में मनुष्यों में श्रेष्ठ हो ये त्रिविधा त्रिप्रकार तीन प्रकार के त्याग होता है तामसादि प्रकार तीन तामस त्याग राजस त्याग सात्विक त्याग तीन प्रकार का त्याग होता है त्याग तीन प्रकार का है त्रिप्रकार ही संप्रकृत तीन प्रकारों से कथन किया है शास्त्रों में संप्रकृत पुत्र शास्त्र सम्यक कथित संप्रकृत मैंने संभ्यक कथित था तीन प्रकार के त्याग शास्त्र में कहा है तामस त्याग राजस त्याग सात्विक त्याग तीन होता है यस्मात तामसाद वेदन जिसके त्याग का तीन स्वरूप है तामस राजस सात्विक त्याग संन्यास शब्द वाच्य अर्थ त्याग शब्द का संन्यास शब्द का एक ही वाच्य है त्याग है वो अर्थ वाच्य अर्थ अधिकृत जो अधिकारी होगा कर्म में अधिकारी अधिकृत से कर्म कर्मी जो कर्मी है कर्म करने वाला है भाई सन्यासी नहीं है उसको अनात्मज्ञ से कर्मी कौन होता है आत्मज्ञ नहीं है जो शरीर आदि बुद्धि में बैठा है त्रिविधा संभव होती तीन प्रकार हो सकता है वो त्याग न परमार्थ दर्शन जो परमार्थ परमार्थम द्रष्टुम शीलम है सम जिनका दृष्टि परमार्थ में है परम प्रयोजन है आत्मा में पहुंची हुई जिनकी दृष्टि उनके लिए नहीं है त्याग वो तो पहले थे त्याग उनके इति अयम अर्थो दुर्ज्ञान ऐसा समझना बड़ा मुश्किल है हाँ। तो तस्मात अत्र तत्व न अन्यो भक्तों इसलिए अत्र तत्व न अन्यो भक्तों समर्थ परमार्थ अर्थ तो कर्मादि को कहना संभव ही नहीं वहां ऐसा है उसके लिए नहीं है त्याग यहां उसके लिए नहीं कहा जा सकता त्याग तस्मात निश्चयम परमार्थ शास्त्र विषय अध्यवसायम ऐश्वरम श्रृणु का इसलिए निश्चय श्रेणु में तत्र का निश्चय सुनो मेरे से त्याग के विषय में तो संन्यास के विषय में कहा तस्मात निश्चय परमार्थ शास्त्र विषय परमार्थ वास्तविक जो शास्त्र हैं उसको विषय करने वाला परमार्थ शास्त्रार्थ विषय परमार्थ शास्त्र के जो विषय है उसको विषय करने वाला जो अध्यवसायम माने निश्चय है ऐश्वर ईश्वर संबंधी निश्चय को सुनो मैं ईश्वर हूं ईश्वर संबंधी निश्चय को ऐश्वर कहा गया उसको तुम सुनो मेरे से सुनो एक कहा हुआ है ठीक है भैया तमेव निश्चय तो कोई निश्चय दिखाने के लिए त्याग और कोई बोल रहे हैं काम कर्म का त्याग का नाम संन्यास है कोई कहते नहीं सभी कर्म का फल त्याग करके नाम त्याग है बोलते हैं कोई कहते सारे कर्म त्याग देना चाहिए दोष युक्त है कोई कहते नहीं एक दान तक को तो करना चाहिए यही है उनको त्यागना नहीं चाहिए इस विषय मेरे से सुनो निश्चय सुनो कहा यही है तमेव निश्चय वही निश्चय जो है निश्चय सुन में तत्र इत्यादि में दर्शन को निश्चय दिखाने के लिए आदौ त्यागगत अवांतर विभाग त्याग तीन प्रकार का होता है त्याग तो त्यागी है तो अवांतर विशेषता है तीन है वो तामस राजस सात्विक तीन प्रकार के त्याग त्यागो ही इत्यादि कहा हुआ वाष्य में कहा था त्यागो ही त्याग संन्यास ही अर्थो स एक है तो एक ही है त्यागी है दोनों तो। कहा तो क्या तीन प्रकार का होता है कि शास्त्रों में कहा गया है इत्यादि ठीक है कहते नो त्याग संन्यास और उभयरूपी प्रकृतत्व अभिशेष है दोनों दोनों प्रकरण में आया हुआ अभी त्याग और संन्यास दोनों समान है होने पर त्याग से वो अवान्तर विभाग अभिधान है संन्यास से उपेक्षित तत्व में आपत्ति था त्याग का जो तो आप अवान्तर विशेष बताओगे तीन प्रकार का त्याग कहोगे संन्यास का नहीं कहोगे उसको क्यों उपेक्षा संन्यास के बारे में नहीं कहा ना केवल त्याग को ही बता रहे हैं आप ये शंका है पूर्वादि दोनों त्याग संन्यास और उभय रूपी प्रकृतत्व विशेष है दोनों प्रकृत है प्रकरण में दोनों लिया गया है त्याग और संन्यास दोनों है यहाँ त्याग से वह अवान्तर विभाग विधान है त्याग का ही अवान्तर विभाग है तामस राजस्थ सात्विक वेद से कहा तो इस मान्य पर संन्यास से उपेक्षित तो आपद संन्यास तो उपेक्षित हो गया उसके बारे में कथन ही नहीं दोनों का आरंभ किया कहने के लिए संन्यास और त्याग दोनों है और एक ही की चर्चा की अवान्तर विषय एक ही को बता रहे हैं आप त्याग तीन प्रकार का त्याग होता है बोल रहे हैं तो संन्यास को तो आप उपेक्षा कर दी उसको विभाग बताए नहीं शंका आ गई तो कहा त्याग है त्यागी अरे बाबू एक ही है वो त्याग है वसा बोला हुआ है वो एक ही तो है त्यागी है वो संन्यास बोलो त्याग बोलो बात एक ही है त्याग संन्यास शब्द वाच्यो वाच्यो ही यो अर्थ स एक है वो एक ही तो है अर्थ एक ही है दोनों का सात्विक राजस तामस से युक्त है त्रैविद्य भी हम्म। जो तीन प्रकार का त्याग होता है करके आगे कहना है तो सात्विक राजस तामस ये कहे गए अर्थ में त्रैविद्य भी तीन प्रकार होने पर त्याग तीन प्रकार होने पर स्वयं भी निश्चय असंभाविता असंभवात अपने आप निश्चय करते संभव नहीं निश्चय असंभव भवात कहा हुआ है निश्चय का असंभव होने से अच्छा नहीं निश्चय संभवात ऐसा होना चाहिए स्वयं निश्चय किया जा सकता है मात्रा हटा देना चाहिए स्वयं मैं सात्विक राजस तामस से युक्त अर्थ जो कहना है तीन प्रकार के त्याग के विषय में त्रैवी देवी तीन प्रकार होने पर स्वयं में भी निश्चय संभव है अपने आप निश्चय किया जा सकता है संभव है किमत्र भागवत निश्चय न फिर भगवान संबंधी निश्चय से क्या लेना हम अपने भी निश्चय कर सकते हैं फिर निश्चय निश्चय भगवान संबंधी निश्चय निश्चय में तत्र त्यागे भरत इत्यादि क्या आवश्यकता है तो कहते यस्माद इत्यादि शब्द से कहा था इसको यस्माद तामसाद वेद त्याग संन्यास शब्दवाच्यवाद तो अधिकृत से कर्मणो अनात्मज्ञ से त्रिविधा थी तो जैसे कि तामसाद वेद है तामस राजस सात्विक वेद से तीन प्रकार का जो त्याग होगा संन्यास त्याग और संन्यास शब्द का वाच्य अर्थ एक ही है त्याग है अधिकृत से जो अधिकारी होगा कर्मी होगा जो निष्कर्मी नहीं होगा कर्मी होगा उसके लिए अनात्मज्ञ से आत्मज्ञान नहीं हुआ जिनको उर्जली है ये त्रिविधा संभव तीन प्रकार के हो सकते हैं ना परमार्थ दर्शिना का परमार्थ दृष्टा को नहीं है ये समझाने के लिए यहां पर भगवान के मत चाहिए अपने अपने निश्चय नहीं कर सकते हैं ये कहना है भगवतो अन्य से उक्त विभागे तत्व अनिश्चया भगवान से अतिरिक्त व्यक्ति के द्वारा विभाग करेंगे यदि यहां जो तीन प्रकार के त्याग भगवान बताने जा रहे हैं उनसे भगवान से अतिरिक्त व्यक्ति के द्वारा यदि वही निरूपण होगा तो तत्व का निश्चय नहीं होगा त्याग के स्वरूप का निश्चय नहीं हो पाएगा विश्वास नहीं आएगा भगवान का भगवान ने कहा तो विश्वास आएगा भगवतो अन्य से उक्त विभागे तत्व अनिश्चयात भगवान से अन्यत्र अन्य विषयों व्यक्ति के द्वारा कहने पर मैंने स्वरूप का निश्चय आपका स्वरूप का निश्चय नहीं हो सकता निश्चय अभाव आप निश्चय न होने से भागवत निश्चय से श्रोतव्यता भगवान के निश्चय को सुनना चाहिए તેને કોઈ દે સંભાવન કરતા ભગવાન કે સેવાને કુમાન જાય કે સબ એક આને લગા તસ્માત દેતા બિતા થા તસ્માત નિસ્યમ પરમાર્થ શાસ્ત્રાર્થ વિષયમ જો વાસ્તવિક શાસ્ત્રિકાર્થિક વિષય કરનેવાલા અદ્ય વસાય છે જે છે આયશ્વર સરણો મત ઈશ્વર સંબંધિત વિશે કુસુનો એ કહા आगे टीका में तमेव भगवतो निश्चय तो निर्धारित हम प्रश्न पूर्वक अंतर सुलभ प्रवृत्ति दर्शाई का वही भगवान का जो निश्चय है ना भगवान कृष्ण का निश्चय क्यों निश्चय विषय में तत्र त्यागे वर्त समूह बोला हुआ है उस विषय मेरे से सुनो कह रहे हैं त्याग के विषय में तमेव भगवतो निश्चय वो भगवान का जो निश्चय है तो निर्धारित हम विशेष रूप से निश्चय करने के लिए प्रश्न पूर्वक अर्जुन उसको निश्चय करना चाहता है क्या है भगवान का मत हम्म, त्याग के विषय में तो अनंतर श्लोक प्रवृत्ति तसे आगे के श्लोक की प्रवृत्ति को दिखाते हैं आगे का श्लोक है कह पुनः असौ निश्चय वो भगवान का निश्चय कौन है कह पुनः निश्चय असौ निश्चय वो निश्चय क्या है भगवान का त्याग के विषय में है इसको उत्तर में भगवान कहते हैं यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम कार्य वे तपस्व पावना पावनानि यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेपतत् यज्ञोदान तपस्व पावना मनीषिणाम् यदि मुमुक्षु अवस्था में है सकाम कर्म नहीं कर रहा है किंतु ये तीन कर्म करना चाहिए उसको मुख्य अवस्था में मान ज्ञान की स्थिति में पहुंचा नहीं ज्ञान के लिए साधन कर रहा हो उस स्थिति में मुमुक्षु है यज्ञदान तब और कर्म न त्याज्यम कार्य में बताते कहते हैं यही मेरा निश्चय है भगवान ने कहा आपका क्या निश्चय है यज्ञ दान तप न त्याज्यम ये तीनों नहीं करना चाहिए ये तीन कर्म है यज्ञ कर्म दान कर्म तप कर्म न तत्कार्य तत्माने वो कर्म करना ही चाहिए यज्ञ कर्म दान कर्म तब कर्म ये तो करना ही चाहिए ठीक है तमेतम ब्राह्मण संधि यज्ञ दान तपसा अनाशके न वृद्धात्म है मुमुक्षुजन उसको जानना चाहते हैं उस तत्व को आत्म तत्व को विदेशंति वेदी तुम इच्छंती जानना चाहते हैं किस साधन के द्वारा यज्ञ ना दान है ना तपसा किंतु तीनों के लिए अनाशक विशेषण है सकाम नहीं निष्काम सकाम तो फल देकर नाश हो जाएगा या अनंत फल में पहुंचाने वाला है इसका फल नाश में आत्मज्ञान में पहुंच जाएगा आत्मभाव में पहुंच जाएगा इसका काम बाप से किया हुआ कर्म इसलिए अनाशक होते हैं वो निष्काम यज्ञ निष्काम तप निष्काम दान ये साधन बताए उसी को लेकर यहां बोल रहे हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य का यज्ञ दान तप ये तीन तीन कर्म जो है न त्याज्यम त्यागना नहीं चाहिए मोक्षों को जब तक मुख्य अवस्था में तब तक त्याग होना चाहिए तत्कार्य में तत्मान कर्म वो कर्म एक कर्म कर्म दान कर्म कार्य में करना ही चाहिए इसको त्यागना ही चाहिए क्यों करना चाहिए कहते हैं यज्ञोदान तपस्या श्राम मन श्राम बुद्धिमान बुद्धिमताम जो बुद्धिमान है ना लोग बुद्धि बुद्धिमान लोग हैं बुद्धिमान यही है कौन जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले को बुद्धिमान कहा गया दूरेण है वरम कर्म बुद्धियों का धनंजय बुद्ध सर्वमनिच्छा कृपणा पड़े तो द्वितीय अध्याय बोल के आए बहुत अंतर है जो सकाम कर्म निष्काम कर्म का बहुत अंतर है ये कर्म सकाम कर्म दूरेण बहुत दूर थोड़ा सा फर्क नहीं बहुत फर्क है दूरेण है वरम कर्म निकृष्ट है ये कर्म कौन सकाम कर्म बुद्धि योगा मान ज्ञान बुद्धि योग मान निष्काम कर्म की अपेक्षा बहुत दूर है बुद्धौ शरण जिस निष्काम कर्म के शरण में जाओ तुम कहा हुआ है कृपणा फल है तो फल चाहने वाला कृपण होता है लोभी होता है वो तो लोभी है सकाम कर्म मत करो ऐसा कहा वही बात यहां भी है यज्ञोदान तपस्या पावन मनुष्यकाम मनुष्यकाम बुद्धिमताम जो बुद्धिमान लोग हैं उनको भी यज्ञ है दान है तप है पापनाने पवित्र कार्य कराने पवित्र करने वाले हैं यह जब तक मुख्य अवस्था में है इनको त्यागना नहीं चाहिए करना ही चाहिए त्याज्यम दशमतित्य के कर्म प्राहु मनुष्य इसके पीछे नहीं जाना चाहिए मोक्ष हो सांख्य मत का अवलंबन नहीं करना चाहिए सारे कर्म दोषयुक्त हैं त्यागना चाहिए सांख्यों ने कहा था उसका खंड यज्ञान तप रूपी जो कर्म है तो करते रहना चाहिए ये कहा टीका में कहते हैं भाष्य में दान तप इति त्रिविधम जो तीन प्रकार के कर्म होते हैं यज्ञ रूप कर्म दान रूप कर्म तप रूप कर्म न त्याज्यम त्यागना नहीं चाहिए इनको तो न त्यक्तव्यम उसी का अर्थ है त्यागना नहीं चाहिए कार्यम ये बताता है कार्य कारण ही है बताता वो तो करना ही चाहिए जब तक मुख्य अवस्था में है तब तक करना चाहिए अधिकारी है जब तक कर्म के अधिकारी कस्मात क्यों करना चाहिए प्रश्न हुआ क्यों तो कहते हैं यज्ञोदानम तपस्या हुआ पावनानी मनीषा में ये यज्ञ दान तप जो होते हैं यज्ञ माने केवल स्वाहा स्वाहा स्वरा आदि यज्ञ मात्र नहीं समझना कई प्रकार के की चर्चा चतुर्थ अध्याय में वर्णन करके आए बहुत प्रकार के यज्ञ है तो उनमें से जो आप कर सके ऐसा यज्ञ करें चतुर्थ अध्याय में विस्तार से यज्ञ की वर्णन हुआ है यहाँ कस्मा क्यों नहीं कर, क्यों करना चाहिए तीनों तो कहते हैं यज्ञोदानम तपस्या पावनानी विशुद्ध करवानी अंतर्गत की शुद्धि करने वाले हैं ये मनीषाम मनीषी कौन होते हैं फला फल अनभाषी कहा फल की आशा न लेकर के करने वाले को कहा मनीषी का बुद्धिमान वही है बुद्धियों का है द्वितीय अध्याय वही हो गई है बुद्धियों का धनंजय मनीषणा माने फल अनभिसंधि नाम कहा फल को न चाहने वालों के लिए पवित्र करने वाले होते हैं तीनों ये हैं तो बलात् बता दे ठीक है बोलते हैं यज्ञ आदि नाम कर्तव्य थे तो यज्ञ दान तब करना चाहिए मुख्य अवस्था में जब तक है ज्ञान हुआ नहीं अभी उस अवस्था में करना चाहिए इस काम बाप से कहा यज्ञोदान तपस्या पापान मनुष्याम ये हेतु दिया है पवित्र करने वाले होते कहा न केवलम अत्याज्यम केवल त्याग नहीं चाहिए इतने मात्र नहीं किंतु कर्तव्य में हम्म, अत्याज्यम कार्य में तो कहा था कार्य करना त्यागना नहीं चाहिए कहा था किंतु करना नहीं चाहिए मात्र कर्तव्य नहीं है वो कर्तव्य करना ही चाहिए उसको तो यही है क्या कार्य में कहा हुआ है यही है ठीक है मैं प्रतिज्ञा में विभज्य है तुम दस करना चाहिए कहा कस्माद ये प्रतिज्ञा है प्रतिज्ञा है ना करना चाहिए बोला उसके हेतु पूछते कस्मात क्यों करना चाहिए ये प्रश्न है तो उत्तर दिया पावना नाम जो फला फल नाम कहा भाषिका ने फल न चाहने वाले को पवित्र करने वाले अंतकरण पवित्र करने वाले हैं करना चाहिए अंतकरण पवित्र हुए बिना वेदांत वाक्य समझ में नहीं आएगा सुनता रहेगा सुनाता रहेगा वो अलग बात है समझ में नहीं आएगा अंतकरण शुद्धि होने पर समझ आएगा यही है प्रतिज्ञातम अर्थम उपसर्ग जो प्रतिज्ञा की थी यज्ञोदान तपस्या पादान मनुष्य प्रतिज्ञा है उसी को सिद्ध करते एतानी अब कहा इन कर्मों का भी ये कहना चाहते हैं संगम तो फला माने कर्तृत्व विमान जो हो आसक्ति न हो और फल की आशा भी न हो दोनों छोड़कर करना चाहिए कर्तृत्व में आसक्ति और फलासक्ति भी न हो मेरे फल मेरा होगा मैंने किया कर्म ये दोनों से रहित होकर करना चाहिए नित्य कर्म करना भी ऐसे चाहिए कहा है एकता तो कर्माणी संगम त्यक्वा धन फलानि तो कर्तव्या में पार्थ निश्चित मतमोत्तम यथान्य तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा फला कर्तव्या कर्तव्यानि तु मे पार्थ निषिधम् मतमुत्तमम् एतानि अपि तो वो माने किंतु इन कर्मों को भी ये जो यज्ञदान तप कहा हुआ है कर्म इन कर्मों को भी कहा इन कर्मों को भी संगम त्यक्वा फलानि च त्यक्वा कर्तव्यानि कर्तृत्व का आसक्ति भी न हो फलाशक्ति भी न हो मैं करने वाला हूं ऐसा आसक्ति भी न हो और ये फल मुझे मिलेगा ऐसी आसक्ति भी न हो दोनों को त्याग करके कर्तव्य नहीं कर्तव्य कर्म करना चाहिए कर्माणी कर्तव्यानी माने संगम तो, संगम तक तो फलानी चाहिए कर्म में आसक्ति भी न हो फल में आसक्ति भी न हो इस प्रकार करना चाहिए ये पार्थ हे अर्जुन मेरा जो निश्चितम मतम निश्चित किया हुआ मेरा विशेष मत है ये सिद्धांत है मेरा निश्चित मत है निश्चय किया हुआ अभिप्राय है मेरा ये इन कर्मों को करना चाहिए किंतु कर्तृत्व अभिमान भी रहो और फलाशक्ति भी रहो ये करके करना चाहिए कहा ठीक है हम कहते हैं भाष्य में एतानी अपितु कर्माणी ये जो तीन कर्म बताए गए जो दान तब जग पावनान मनीषा आया हुआ है इन तीन कर्मों को भी हेतानिवत कर्माणी यज्ञदान तबंशी यही है यज्ञदान तब ये तीन कर्म है ये भी पावनानी दुग्धानी पूर्व स्वरूप में पावनानी मनीषणाम कहा हुआ था बुद्धिमानों को फल के अनसंध्य आशक ग्रहित करने वालों के लिए पवित्र करने वाले तक कहा था पावना युक्तानी संगम आसक्ति आसक्ति को छोड़ करके केशु त्यक्वा उन कर्मों में आसक्ति छोड़ करके फलानी जब फल में भी आसक्ति छोड़ करके कर्म में भी आसक्ति नहीं फल में भी आसक्ति नहीं दोनों छोड़कर परित्यज परित्यज्य त्यक्वा का परित्यज्य त्याग कर कर्तव्यानी यदि अनुष्ठेयानी कर्तव्यानी मानी क्या अनुष्ठान अनुष्ठान करना चाहिए कर्मों का तीनों का भी कर्म में आसक्ति भी न हो फल में आसक्ति भी न हो इस प्रकार से करना चाहिए यदि वे मम अनिश्चित मतम उत्तम कहा यदि मैं मतम कहा था मेरा निश्चित मत यही है भगवान का मेरा अभिप्राय है निश्चय श्रुण में तत्र करें भगवान का था निश्चय श्रुण में तत्र त्यागे भक्त सप्तम त्यागो ही पुरुष यहां से आरंभ हुआ अभी भगवान के पद को लेकर निश्चय श्रुण में तत्र इति प्रतिज्ञा भगवान ने प्रतिज्ञा की थी ये तीनों के विषय मेरे से निश्चय सुनो क्योंकि ये तीनों के लिए कोई कहते सारे कर्म त्याग देना चाहिए त्याज्यम बृहस्पति त्याग करके बोल रहे हैं कोई कहते हैं तीनों को तो करना चाहिए एक दान तो कर्म कर्तव्य त्याग पर है तो मेरे से निश्चय सुनो करके भगवान ने प्रतिज्ञा की निश्चय में तत्र इति प्रतिज्ञा भगवान ये प्रतिज्ञा करके पावरत्वम से हेतु मुक्ता क्यों वे पवित्र करने वाले हैं हेतु पता करके एतानी अभी कर्माणी कर्तव्यानी ये कर्मों को तो करना चाहिए भगवान कह रहे हैं क्यों ये पवित्र करने वाले हैं मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं इसलिए कर्म करना चाहिए ये कहा निश्चित मतम यही निश्चय निश्चय किया हुआ मत है मेरे से निश्चय सुनो करने के बाद वे तीन कर्म पवित्र करने वाले हैं ऐसा जो तो कहा यही निश्चय करा इसलिए करना चाहिए थी प्रतिज्ञात उपसंहार प्रतिज्ञात अर्थ उपसंहार एवं ये पहले जो प्रतिज्ञा की थी निश्चय अनुसूर में तत्र इत्यादि कहा हुआ था उसी का ही उपसंहार है वाक्य पवित्र कहते इसलिए करना चाहिए न अपूर्वार्थ अपूर्व के लिए नहीं है अपूर्वार्थ वचनों का एतानी अभी एतानी अभी कर्माणी का इन कर्मों को भी जो यज्ञदान तप तीन प्रकार के कर्म करना चाहिए का ये भी प्रकृति सन्निकृष्टार्थता उपत्य कहते हैं ये एतानी के पहले कौन वाक्य आया जिससे हम सुनवे तत्र पावनान मनीषण ठीक है जिससे हम सुनवे तत्र त्यागे वर्तवा यज्ञान तपस्व पावनान मनीषण पहले ये तीन कर्म है यज्ञदान तप है इसके सन्निहित में ही वाक्य आए हैं इसलिए इस तीन को यहां लेना यतानी यथत शब्द सर्वनाम है नजदीक का परामर्श करता है नजदीक कौन थे यज्ञोदान तपस्या था पूर्व पावनान मनुष्य यही है ना यथानी को पूर्व वो श्लोक है तो इसलिए उसी को लेना चाहिए तीन कर्मों को यथानी यथत शब्द के द्वारा उस श्लोक में आया हुआ शब्द है वही तीन कर्म को लेने के लिए कहा क्यों सन्निहित गयु ग्रहण करता प्रकृति में आया हुआ नजदीक में वही आया है यज्ञोदान तपस्या को पापना मनुष्य तीन कर्म की चर्चा है उसको एतानी पद के द्वारा वही लेना है प्रकृति से निकास तो उपत्य कहा सासंग से फलार्थिनो बंद है तो माने कर्म में आसक्ति फल में आसक्ति करके जो कर्म करता है बंधन के कारण होता है वही कर्म बंधन के कारण हो जाता है सासंग से आसक्ति सहित और फलार्थिना जो फल के फल के लिए बंध है तब यथानी अभिकर्माणी यही कर्म बंधन के कारण होते हैं जो शासन का होगा आसक्ति किसे करेगा फल की आसक्ति कर्म में आसक्ति के द्वारा होगा तो बंध के कारण होगा एतान ये कर्मान मुमुक्षो वही कर्म मुमुक्षों के लिए जो कर्म फलाशक्ति से कर्म बंधन का कारण था वही कर्म मुमुक्षु करता है तो फलाशक्ति रही तो होकर करता है एतान ये कर्मान मुमुक्षो नहीं कर्तव्य है कर्तव्य अपिशब्द से अर्थ इन कर्मों को करना चाहिए अपिशब्द का अर्थ न तो अन्य अन्य कर्माणी अपेक्षा अन्य कर्म भी करना चाहिए इस अर्थ में नहीं है कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये तानी अपिकान इनको भी करने चाहिए मतलब अपि से अन्य कर्म काम्य कर्म भी करना चाहिए हिमांग सब लोग ऐसा बोल पड़ेंगे यहां अपी लगाया ये भी करना चाहिए माने वो भी करना चाहिए ये अर्थ निकालेंगे ऐसा नहीं है यहां यही करना है इनको भी करना है दो त्याग करके कर्म में आसक्ति फलाशक्ति दोनों त्याग करके करना है मोक्ष वही कहने के लिए कहा अभिशब्दार्थ अभिशब्दार्थ कहते ही मोक्ष यानी मोक्षों के लिए फलाशक्ति और कर्म की आसक्ति को त्याग करके कर्मों को कर इनको भी फलाशक्ति से त्याग करके करना चाहिए यह अर्थ में इनका भी करना चाहिए कैसे फलाशक्ति आदि से रहित होगा इसका अर्थ है न तो अन्य अन्य कर्माणी अपेक्षा एतानी अपी दूसरे अन्य कर्मों की अपेक्षा करें इनको भी करना चाहिए अन्यों को भी करना चाहिए ऐसे अपेक्षा करके नहीं है क्यों अपी लगने से ऐसा होता है आप भी आ जाना हमारे दूसरे को भी लाना होता है ऐसा न समझे कि अन्य कर्मों का अपी शब्द से आया हुआ है क्यों एतानी अपी कर्माणी का अपी लगा इन कर्मों को भी करना चाहिए मतलब अपी से क्या आएगा अन्य भी करना चाहिए ऐसा अर्थ नहीं लेना इनको भी दो को त्याग करके करना चाहिए कर्माशक्ति फलाशक्ति ये कहने में अभिशब्द का तात्पर्य यहां है कहा अन्य तो वर्णन दे अन्य माने मीमांसा को यहां व्याख्या करते हैं ये श्लोक को लेकर एतान ये भी तो कर्माणी कहा ना इनको करना है पुरुष लोग कहा हुआ जो तो तीन कर्म है तो एक दान तपस्या एक पावन निशाम कहा हुआ है उसी को यथा शब्द से पकड़ना है अब यह इस श्लोक में यथा है यथा शब्द द्वितीय प्रथमा बहुवचन है द्वितीय बहुवचन है इनको करना चाहिए प्रथमा बहुवचन तो अभी आया इसके आगे ये तो अभी अभी से अन्य कर्म भी करना चाहिए वह काम कर्म भी करना चाहिए ये नित्य कर्म भी करना चाहिए यज्ञ दान तप आदि करना चाहिए और काम कर्म करना अन्य इस सब व्याख्या करते हैं कौन अन्य मान्य मीमांसक लोग हैं पूर्व मीमांस अन्य तो कर रहे थे नित्यानाम कर्माम फलाभावात नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता उनका कहना है मीमांसक होगा संगम तक तो फलानी चाहिए न उपपत्ति वह संगम तक तो फलानी से बोलना संभव नहीं है क्यों फल है ही नहीं फल तो आए नहीं तो क्या त्यागना वहां हो तो त्यागना संभव है ही नहीं करता ही नहीं वाक्य ये कहते हैं वो आराम हाँ। कर्म अद्वित कर्म का फल न होने से संगम त्यक्वा कर्म में आसक्ति और फलानी जगह फल को भी फल में आसक्ति आकर होता ही नहीं फल है ही नहीं वहां इसलिए ये सिद्ध नहीं होता एतानी अभी इति एतानी अभी जो कर्म है ना वो फलाशक्ति के मैं लेगा नहीं करना फलाशक्ति को त्याग करके ये कर्म भी फलाशक्ति त्याग के करना चाहिए ऐसा अर्थ नहीं है क्यों फल है ही नहीं क्या त्यागना वहां तो कहते हैं एतानी अभी यानी कर्माणी काम्यानी कर्माणी जितने काम्य कर्म है ना वो भी करना चाहिए ये नित्य कर्म भी करना चाहिए हम्म। और अपी से काम्य कर्म ये भी करना माने अन्य भी करना है काम्यानि कर्माणी नित्यव्यो अन्यानी नित्य कर्म से अन्य है कौन काम्य कर्म एतानी अभी कर्तव्य इनको भी करना चाहिए काम्य कर्म को करना चाहिए कि होता है यज्ञदान तब अंश जब काम्य कर्म भी करना है तो क्या कहना जब यज्ञदान तब के बारे में तो क्या कहना वो तो करना ही चाहिए नित्य यानी नित्य कर्म तो करना ही है जब काम्य भी करना है तो नित्य तो करना ही है ऐसा कहते हैं कोई लोग दोनों प्रकार के कर्म करना चाहिए ये कहना है मीमांसक होगा सिद्धांत बोलते तद असर भाष्यकार रहे हैं वो अच्छा नहीं ठीक नहीं क्यों तो कहा नित्यानाम तो कर्मणाम जो से उपाधि तत्वाद करते नित्य कर्म के फलशाली होते हैं पहले हम सिद्ध कर चुके हैं आगे कहेंगे भगवान अष्टम इष्टम इष्टम से त्रिविधम कर्मा फलम भगवत त्यागी नाम सन्यासी नाम कुचित ऐसा आगे भगवान कहेंगे तीन प्रकार के फल होते हैं कर्म का इष्टफल अनिष्टफल मिश्र फल उनमें से तीनों फल किसको मिलेगा भगवती अत्यागी नाम करते तो मरने के बाद जो त्यागी नहीं है फल को नहीं त्यागा उनको वो फल होता है न तो संन्यासी नाम को जो फल त्याग चुके हैं पहले आसक्त रहित तो करके कर रहे हैं वो कभी उनके लिए नहीं होगा फल नहीं होगा ऐसा भगवान आगे कहेंगे बात बात कहेंगे कहा हुआ है नित्यारंभ कर्माण फलवत्त से उपाधि होता फलशाली होता पहले आप सिद्ध कर चुके हैं इस बात को जो तीन प्रकार के फल होते हैं नित्य कर्मों का भी इष्टम अनिष्टम मिश्रम उनमें जो अत्यागी होंगे फल नहीं त्याग सकते उनके लिए मरने के बाद फल मिलेगा पर शरीर में और सन्यासी के लिए नहीं होगा फल त्यागी के लिए नहीं होगा ये हम कह चुके हैं कहा यज्ञोदान तपस्या पावनानी इत्यादि वचन है ना यज्ञोदान तपस्या पावनानी मनीषाम इत्यादि जो वचन है इन वचनों के द्वारा यहां नित्यानि कर्माणी बंध हेतु तो आशंकया नित्य कर्म भी बंधन के कारण ऐसा शंका करके नित्य कर्म भी फलाशक्ति तो होकर करेगा तो बंधन के कारण होगा यह शंका कर और मुमुक्षो नित्य कर्म को छोड़ना चाहता जो मुमुक्ष अभी बंधन के कारण होते कर्म मात्र बंधन के कारण इस बुद्धि में जाकर कहीं नित्य कर्म को छोड़ के आशक्ति अभिलाषा पहुंचाओ कौन मुमुक्ष जिहासु त्याग नहीं किच्छु किसको त्याग रहा नित्य कर्म को त्याग नहीं किच्छुक है हाथों में इच्छुक जिहासु जिहासु त्याग नहीं किच्छुक का मुमुक्ष कुता में प्रसंग जो नित्य कर्म भी जो छोड़ना चाह रहा है बंधन के कारण समझ करके तो काम में तो प्रसक्ति है ही नहीं उसके कहां से होगा काम्य कर्म तो करेगा ही नहीं जब नित्य कर्म भी छोड़ने की इच्छा कर रहा है क्यों बंधन के कारण होता है करके उसे भी ऊपर होना चाहता है काम्य कर्म तो प्रसक्ति है ही नहीं वहां द्वितीय अध्याय बोल गया है दूरेण वरम कर्म बुद्धियों का धनंजय बुद्ध शरण मन कृपणा फल बोल के आए देखो ये जो काम्य कर्म जितने भी है ना कर्म दूरेण ही अवरम निकृष्टम बहुत तुच्छा है कर्म थोड़े दिन फल भोग फिर वही स्थिति छेड़े पुण्य मतलों को मिशन दिया है दूरेण अवरम कर्मा बुद्धियों का धनंजय अर्जुन बुद्धियों माने निष्काम कर्मयोग के अपेक्षा ही बहुत निकृष्ट है काम्य कर्म बुद्ध शरण में निच्छ बुद्धि के शरण में तुम जाओ बुद्धि निष्काम कर्म युग में लगो कृपणा फल ये तो जो काम्य कर्म करने वाले कृपण होते दरिद्र होते हैं ऐसा कहा है इति निंद तत्वात काम्य कर्म तो निंदा की हुई हो और तृतीय अध्याय में आकर के बोले यज्ञार्थात कमलो नेत्र लोको एवं कर्मोधना ये बोल के आ रहे यज्ञ यज्ञों में विष्णु का है भगवान के लिए जो कर्म होता है उसको छोड़कर अन्य के लिए जो कर्म करना देवादि के लिए जो कर्म करना बंधन के कारण है यज्ञों में विष्णु ऐसा श्रुति है यज्ञ हमारे विष्णु विष्णु के लिए कर्म करे तब तो उन्नति के कारण है बाकी देवादि पूजा करने से अवनति होगी सकाम होगा एक यज्ञ वही विष्णु इत्यादि आए यज्ञ अर्थात करोड़ लोको यम कर्म बंधना इत्यादि यज्ञ यज्ञ के प्रयोजन से कर्म से अन्य जो प्रयोजन से जो तो कर्म होगा बंधन के कारण होते कहा जब काम्य कर्मा बंध हेतु तो से निषेध तो काम्य कर्म जितने होते हैं बंधन के कारण निश्चय हुआ कहा निश्चय हुआ यज्ञार्थात कर्मों ने यत्र लोको एवं कर्म बंधना इत्यादि और त्रैगुण विषय वेद निस्त्रिगुण भव अर्जुन इत्यादि आया है जो कर्मकांड पर जितने भी वेद है ना तीनों गुणों के सहारे से चलते हैं उसी को विषय बनाते हैं सदगुणी विषय रजगुणी विषय तमगुणी विषय तुम तो तीनों जो कर्मकांड भाग है तीन गुणों को विषय करने वाले उसको छोड़ करके आगे बढ़ो तो ये कहा जो गुणों से ऊपर की स्थिति बताने वाले जो वेद भाग होगा एक विवादित्यम इत्यादि वाक्य उसमें चलो त्रैगुण्य विषय रहा वेदा माने कर्मकांड पर वेद जीते तीनों गुणों को विषय लेकर चलते हैं कहे सदगुण के विषय लेकर के चर्चा करेंगे कहीं रजगुण लेकर के तमगुण लेकर के निस्त्रय गुण में भगवान कहा हुआ तुम तो तीनों गुण से ऊपर की अवस्था में हो जाओ कर्मकांड वर्ग वेद के चक्कर में मत पड़ो इति काम कर्माणाम बंध हेतु तो सिंह काम कर्म जितने भी होते हैं बंधन के कारण है त्रिगुण विषय वेदा ये कहा तीनों गुणों को विषय करते वेद ऊपर आत्मा को विषय नहीं करते ये त्रैविद्यामाम समपापूत पापा यज्ञ रिष्टा दिन प्रार्थयते ते पुण्यमाशाति स्वर्गत लोकम अशांत दिव्यां दिव्यो भगवान ते तम भूत सर्वलोकम विशाल क्षण पुण्य प्रतिलोक विशंति एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गतागतम काम काम लबनते नवविद्या में ऐसे आए हैं श्लोक तीनों विद्या जो ऋग सुम है ना तीन विद्या ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद कर्मकांड पर जितने भाग है उसके द्वारा माने यज्ञादि करके यज्ञ सोम सोमपापा सोमपाह यज्ञादि करके सोमपान जिन्होंने किया है तीनों वेदों के माध्यम से चले कर्मकांड करने यज्ञादि किया यज्ञादि करने से सोम पुरस्कार प्राप्त किए त्रैविद्यामाम सोम तो पाप पुत्र पाप यज्ञ दृष्टि स्वर्ग दिन प्राप्त क्या क्या फल चाहते हैं स्वर्ग स्वर्ग को चाहते हैं यज्ञ द्वारा ये करने वाले लोग इत्यादि देव पुण्य महासाध सूर्य लोग इत्यादि पुण्य के प्रताप से जो देवताओं के लोग है उसको भोग कर अशांति सूर्य का असनंती देवांति देवताओं का जो भोग था भोगते हैं कुछ दिन भोगते हैं और क्षीण पुण्य होगा तेतम भुक्तम सरोवर विशाल सरोवर विशाल सरोवर भोग रहे थे कुछ दिन उसके बाद क्षीण पुण्य मत लोग विसंति फिर यही आ जाते हैं पुण्य क्षीण होने पर इत्यादि चर्चा है हमारे काम कर्म की निंदा है इन वाक्यों के द्वारा कहते हैं क्षीण पुण्य मत लोग विसंति इतिजा दूर व्यवहितत्वाजा मान निष्काम कर्म की अपेक्षा बहुत दूर का व्यवधान है इसका किसका सकाम कर्म का न काम्य एतानी अपी व्यवदेश इसलिए काम्य में एतानी में आया हुआ अपी से अपी कहने से काम्य कर्म भी ऐसा अर्थ नहीं आएगा इनको भी करना है क्या क्या करके फलासंग्रहित रहित तो होकर के कर्म में आसक्ति रहित फल के आसक्ति रहित इनको भी उस तरह से करना है इसके भी यही इन्हीं में लग रहा है न कि अपी से काम्य कर्म को लेना ऐसा नहीं समझ रहा यहाँ एतानी अपी में अपी शब्द आया अपी कहने से मीमांसक होते हैं अपी आया हुआ तो दूसरा भी होगा इनको भी करना है अन्य भी करना है काम्य कर्म भी करना है नहीं काम कर्म निंदा है प्रशस्त नहीं है निंदित है उसके लिए नहीं है इनके भी करना किस प्रकार फलाशक्ति आदि से रहित होगा जिसके तात्पर्य अपिसवगण कहा समय हो गया है टीका से फिर देखेंगे ओम पूर्ण पूर्णमेवावशिष्य ओम